Yeah. वरित अति विचित्र बहु विधि तुम गाई निगमागम पुराण न कहा तीर्थ मुनि नहीं संदेहा अंतर राम कृपा करके राम कृपा तब दर्शन भयू तब सब संकल गयू वंदे राम विकल कारण कदम भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है वे किस प्रकार के किस प्रकार के क्षेत्र में कैसे बंधन में पड़ गए और कैसे जागरूक होने लगे ये जो गुरु की बातें हमारी समझ में नहीं आ रही थी तो संशय के कारण हम जागरूक थे आगे गौर कहते हैं कि देश तरह मेरे अनुसार ही भगवान के हमने युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल चरित्र कैसे देखे जिसके साधारण मनुष्य हो ऐसे उनके हमें चरित्र देखे इसमें एक बात देखेंगे कि ये कालभूषित ध्रुव हो तपासना चुके गरुण जो कुछ बोल रहे हैं तो कालभूषण ने कथा बड़े उत्साह के साथ सुनाई बड़े प्रेम के साथ सुनाई अब ये शरीर को जो उससे प्रभावित हुए तो ये भी बड़े उत्साहित हो गए उनका मोह त्याग दूर हुआ तो बड़ी प्रसन्नता उनको हो तो इस प्रसंग में अति का वर्णन है लेकिन ये हर बात अति है जैसे एक देश करे तरह से अति नर अनुसारी तो भगवान के चरित्रों को देखा तो नर अनुसारी नहीं अति नर अनुसारी कि मन जरा जो उसमें ये न लगे कि मनुष्य से कोई विशेष व्यक्ति बिल्कुल तो साधारण मनुष्य से मनुष्यों की दुर्गमता कमजोरी होती है वैसे उनके चरित्र में बिल्कुल दिखाई देती थी तो हृदय मन संशय भारी तो पर उनको उनको देख करके करके देख करके मुझे संदेह हुआ कि अगर ये भगवान होते हैं तो कुछ न कुछ तो विशेषता दिखाई देती कुछ मनुष्यों में तो कुछ विशिष्ट अधिक शक्ति अधिक बल कुछ तो दिखाई देता कई वहां कुछ नहीं दिखाई देता बिल्कुल एकदम मनुष्य जैसे लगे तो श्री धन अब फिर कर नाना कई उनका वही धर्म हमने समझा कि जो समय भ्रम हो गया तो समय तो बड़ी जागरूकता थी लेकिन अब समय में आया वो भ्रम भी ठीक नहीं था अच्छे ही हो गया क्या अच्छा हो गया तीन अनुग्रह कृपा निभाना ये तो भगवान की कृपा थी जिस प्रकार मंदिर उत्पन्न हुआ अगर केवल ये मान लेते वहां पर कि साधारण मनुष्य है और नारद जी ने हमको भेज दिया है इनकी सहायता करने के लिए तो नारद जी को इन पर आ रही होगी इसलिए उन्होंने हमको भेज दिया हमने बंधन काट दिए तमाम मनुष्य दुनिया में है इस प्रकार से होता रहता है उनके ही बंधन होते रहते हैं और कठानियां परेशानियां आती रहती है ये भी इस प्रकार के साधारण मनुष्य है जितना ही जब निश्चय होता तो कोई बात नहीं खत्म कर रहे लेकिन जब ये बात ये तो कहते हैं कि ये भगवान है लेकिन ये मनुष्य का रूप धारण करके इस प्रकार की जो लीला कर रहे हैं तो दोनों में कोई शांत नहीं दिखाई दिया भगवान भी हो और उनकी लीला भी भगवान के अनुरूप हो ऐसी कुछ यहाँ नहीं दिखाई दी तो संशय उत्पन्न हुआ तो ये संशय उत्पन्न होना अच्छी तो खराब बात है लेकिन संशय होना अच्छी बात थी इस प्रसंग में ये देखो तीन स्थितियां हैं इसलिए कि संसारी जीवन जो है बस सब यही बिल्कुल ठीक है एक स्थिति ये दूसरी स्थिति ये है कि संसारी जीवन इतना दिया नाना प्रकार के दुख के उसमें भी होते हैं इससे छुटकारा होने का कोई क्या उपाय नहीं है क्या ये शास्त्र क्या जो कहते हैं क्या वो भी बातों में कुछ सभ्यता है ऐसा कुछ मन में आ गए कि ये भी बड़े सौभाग्य की बात है संशय उत्पन्न होना साधारण बात नहीं है का तो भी उत्पन्न हो तो विपरीत बुद्धि बनी रहे जैसे रस्सी के स्थान में शब्द समझ लिया तो सब समझ करके उसी को दर्शन कर ही समझे रहे और उसे सिद्ध ही रहे जाते नहीं रहे उसको फल में अगर मरी मरीक्षा देख ले पानी समझ ले तो पानी के लिए भागता रहे भागते ही रहे ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है कभी ये है कि जब व्यक्ति बहुत आधा दौड़ा तो उसे पता लग गया अरे ऐसा लगता है कुछ में कुछ गड़बड़ है चल इत्यादि यहाँ कुछ है नहीं है हमें कहीं भ्रम हो गया है ऐसा संदेह होने लगना तो उसके सुधार का लक्षण है संदेह होगा तो संदेह दूर भी होगा तो सत्य का पता लग जाए लेकिन बहुत बार लोगों की बुद्धि में दृढ़ता के साथ स्थापित होती है कि जो ये भौतिक जीवन यही सब कुछ है इसके अतिरिक्त कहीं बुजुर्ग की बात है ये शास्त्र के लिए सब प्रकार की बात है सब समय काटने के लिए लोगों ने अपने अपनी अटल फाड़ने के लिए पुरुष प्रकाश लिख दिया लोगों को गुमराह करने के लिए कह दिया इसमें कुछ तत्व की बात नहीं सीधी बात ये सही शारीरिक जीवन खाओ पियो जीवन काटो बस इतने में और क्या अच्छा है तो ऐसा कर व्यक्ति को भौतिक जीवन की दशा के साथ में उसकी मान्यता है ये अधोगति है सबसे निम्न स्थिति यही संदेश है इसका इसलिए भाई पर बड़ी बड़ी सभाएं होती है इस प्रकार की प्रदर्शन इत्यादि होते हैं वहां पर मुख्य बात तो लोगों के मन में संदेह पैदा करना होता है अधिकांश लोग सरकारी लोग आते हैं सुनने के लिए तो उनके मन में पहला काम यही होता है संदेश पैदा करना संदेह का निवारण तो बात को होगा वो अपना प्रयास नहीं कर लेगा संदेह निवारण का भागेगा दौड़ेगा फड़ेगा दिखेगा सीखेगा समझेगा कुछ करेगा लेकिन संदेह पहले करो पहले उसको ये तो दिखाओ कि जो तुम भौतिक जीवन जी रहे हो उसमें कितने दुख है कितनी कठिनाइयां है कितनी परेशानियां है नाना प्रकार उसी जाना फंसे हुए और लोगों को पड़े हुए और कभी विचार नहीं करते कैसे निकल सकते हैं बस इसी को ललकार करते रहते हैं उनको तो कि बार बार किस स्थिति सावधान किस स्थिति सावधान क्या मत उसी में अपने शरीर की सेवा में लगे हुए सारे जीवन शरीर उसी की सुरक्षा में लगे हुए शरीर को खिलाते खिलाते हुए आराम देते रहो उसी में लगे रहे तो जीवन नष्ट करते रहे बस यही बातें जो ज्यादा जो लोगों को अधिकांश लोगों को यही सिखाई जाती है तो उनमें से जिन लोगों को संशय उत्पन्न हो जाता है कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं इतने ज्यादा धन संपत्ति के रूप में पड़े हुए उसी में प्राण दे रहे हैं मारकाट कर रहे हैं जब कितने लोगों की हत्या कर दी कितने लोगों को आराम कर दिया कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाई ये सब हमने किया कोई खराब काम को तो नहीं किया गलत तो कहीं नहीं हो गया इस प्रकार के जहां उनको संशय होने लगा तो बस फिर उसके बाद फिर उन्हें सुधार के लिए मार्ग भी मिल जाता है विकास के लिए रास्ता हो जाता है और विकास का क्रम यही है पहले व्यक्ति अज्ञान में पढ़ करके टूट मंदिर बना हुआ है यह वो गति है तो संशय उत्पन्न हुआ तो साधना भी करेगा रास्ता भी खोजेगा संशय भी व्यक्ति को अब इनको गर्व को संशय न हो गया होता तो नारद जी के पास क्यों दौड़ते नारद जी से फिर ब्रह्मा जी के पास क्यों दौड़ते ब्रह्मा जी के पास शंकर जी के पास क्यों दौड़ते शंकर जी के पास फिर विषाभूषण के पास क्यों आते इतनी चक्कर क्यों लगाते और इतना प्रयास क्यों करते संशय में होकर अपने चुपचाप बाहर अपने बैठते कभी होगा लोग संशय करने के प्रयास करता है संशय के निवारण के लिए संशय निवृत्ति भी होता है तो ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान तो दूसरा संशय और तो के बाद ज्ञान ये कम करेगा अगर कोई विपरीत ज्ञान लिए बैठा है संख्या वही व्यक्ति को जब विश्राम काल होता है जबकि ये सब उपलब्ध न हो भौतिक सुख बहुत प्राप्त न हो उसमें समस्याएं भी हो कठिन व्यक्ति को हो दुख का अनुभव करे तो उसके मन में दुख से छुटकारा करने की इच्छा हो प्राप्त करने की इच्छा हो तब ये सब बातें ध्यान दे समझे साधना कुछ करे सीखे कुछ जीवन की रूपरेखा बदले अपनी तो कहते हैं जो अभी आकर जात में होगी फिर छाया सुख जान सोई और जो नहीं हो तो मोह अति मोही मिलते प्राप्त कवन विद्रोही भगवान के चरित्र अति मेरे अनिवार्य थे और अति आसुक व्याकुल हुए और फिर कहा कि अति मोह हो गया और जो नहीं हो तो मोह अति मोहरी अगर हमको अति मोह न हुआ होता तो ये स्थिति कैसे होती तो जो साथ का मन भी तो बड़ा हम आपको कैसे मिलते मन सत्संग का लाभ संसार व्यक्तियों को ही होता है अगर संशय न उत्पन्न हो शंका न हो तो सत्संग करने बन जाए सत्संग की आवश्यकता तो समझ आती है जब व्यक्ति को संशय उत्पन्न हो सत्संग में ही संशय दूर होंगे गए इसलिए शंकर जी ने कहा कि देखो सिंह की हानि हमें सत्संग होता रहा जाए तब तुम्हारे सत्संग को संशय दूर होंगे तभी समय पर संशय भंगा जब बहु काल कर यह सत्य समझा तो सत्संग संशय का फल सत्संग संशय करेंगे तो सत्संग प्राप्त और फिर अपने संसार को वहां पर दूर करेंगे अब ये चीजें कहते हैं कि जो मेरे दोस्त लोग होती भारी इतना मोड होता और हमें संसार उत्पन्न हुए होते तो मैंने सात कमन तो ही यही तो हम आप आपको आप कैसे दर्शन कैसे प्राप्त होते कैसे मिलते और ये सत्संग हमको कैसे प्राप्त होता और सुनते उस दिन कथा सुनाई और सत्संग नहीं प्राप्त होता तो भगवान की कथा को व्यतिक्रम सदग्रंथ के भगवान सब आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने कर्म कर्म यही बन गया पहले व्यक्ति को जो अपनी भौतिक जीवन की स्थितियाँ हैं उसकी सत्यता को स्वीकार किया जाता है वहाँ उसको संकट उत्पन्न हो तो फिर उसके बाद फिर वो हो गए सत्संग में फिर भगवान की कथा सुने तब उसके संसार निवृत्त होकर के ज्ञान प्राप्त हो तब उसे मुक्ति आदि हो संतोष शांति मिले तो आई अब सुंदर कथा तो सुनाई ये तुमको कहा मिलती आगम पुराण मदेहा ये कहा हम बात कर रहे हैं ये हमारी अपनी बात नहीं है सभी लोगों का कहना यही निगम आगम पुराण सबका मतलब मन समस्त शास्त्र जितने नाना प्रकार के शास्त्र शास्त्रों के यही मत थे तो सत्संग में भगवान की कथा सुनने से ही संशय निवृत्त होते हैं और चित्त शांति मिलती है कहा सिद्ध मिल नहीं समझिया और सिद्ध लोग मिल लोग यही कहते हैं इसमें कोई संदेह की बात नहीं ऐसा नहीं जरूर अपने मन की ज्यादा उत्साहित हो गए तो अपने अपने मन की घटना सुना रहे हो तो कभी केवल हमारा ही विचार नहीं है ये तो हमारा अनुभव हमने अपने आप से देखा और यही शास्त्र भी कहते आ रहे हैं संत भी यही कहते आ रहे हैं वो बात आज सब प्रसिद्ध हुई हमें मालूम था कि उनका कथन ही ठीक है संत विशुद्ध मिले सब देवी कितने ही राम कृपा कर देवी <laughs> विशुद्ध संत उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है सत्संग मिले सत्संग मिले ये कोई साधारण बात नहीं लेकिन बल्कि भगवान की कृपा हो तब ये प्राप्त होता है अब वैसे तो ये है कि व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता अन्य स्थानों पर अपने पूर्व जन्म पुण्य से भगवान ने जब अयोध्यावासियों को सुनाया तब कहा कि देखो सत्संग जो है ये कैसे प्राप्त होता है पुण्य तो पुण्य जन मिले संता सत्संग संसद करे अंता कितना पुण्य के लिए प्राप्त होता अपुण एक जग में पूजा मन कम दर्शन वित्त पर पूजा और तो सुन दिए कि विक्रम के चरणों में प्रिय छूट जो करे हुई हो उसके पुण्य स्वरूप सत्संग त्यागी का तुमको सत्य जब बताया तब तो पुण्य की बात बता दी कि वो सत्संग पुण्य से प्राप्त होता अब जब कोई संत कहेगा अन्य व्यक्ति कहेगा कि ये कैसे प्राप्त होगा सत्संग कैसे प्राप्त होगा तो फिर वो अपने कर्मों का फल नहीं बताएगा भगवान की कृपा बताएगा भक्त जब भगवान की कृपा हुई तब ये प्राप्त हो भगवान कहेंगे तुमको अपने कर्मानुसार प्राप्त हो और व्यक्ति कहेगा आपकी कृपा से प्राप्त हो मन दोनों की आवश्यकता है एक तो व्यक्ति से जो पूर्व प्रारंभ उदय हो और फिर भगवान को प्रारंभ का फल सत्संग दे तो सत्संग मिले दोनों के पास नहीं बैठा दो मैंने जब हमारे पूर्व पुण्योदय हुए हो तो उन्हें सोने के फलस्वरूप तो और भी संप्राप्त हो सकते हैं वैसे फल प्राप्त हो सकते हैं धन संपत्ति की प्राप्त हो सकती है परिवार आदि प्राप्त हो सकते हैं स्त्री की प्राप्त हो सकती है उनका फल वो भी तो शरीर की प्राप्त हो सकती है और दिनों तक सर्वम बात करना वो भी पुण्य का फल है लेकिन पुण्य का फल सफल इसके लिए भगवान जी की बात भगवान जी चलो तुम्हारा जो पुण्य हुआ उसको तुम जाने दो अगर तुम सब नहीं चाहते हो लौकिक सुख नहीं चाहते हो तो तुमको सत्संग दे सत्संग का सुख और स्वर्ग आदि के सुख है वो जो मंत्री ने तराजू के तौर पर दिखाए थे उसको निर्देश दे अब उसके माने ये है कि स्वर्ग का सुख तो रेज बराबर हल्का हो गया और सत्संग का सुख उससे भी भारी हो गया अब जब सत्संग की जो प्राप्ति हुई उसमें दो बातें हो गई एक तो अपनी होने का बंद आ गया और भगवान की कृपा आ गई दोनों मिलकर के ज्यादा सुखदायी और ज्यादा महत्वपूर्ण बन गए की गणना कैलकुलेशन हिसाब किताब से तो है कहीं कोई नाप जोत में कोई गलती नहीं है हाँ? इस प्रकार की कृपा कैसे सत्ता निकासित इसलिए दुगुणित किया जाए अपने समयों का भी प्रभाव है और भगवान की कृपा भी है कहीं प्रार्थना तो संत विशुद्ध नहीं कर दे ही कितने राम कृपा कर दे ही मान भगवान की इसके ऊपर कृपा हो जिसकी तो करे भगवान की कृपा दृष्टि उनको सत्संग प्राप्त राम के साथ सब दर्शन भय कहते हैं कि भगवान की कृपा से कभी कभी लोगों को सत्संग की अपनी ओर की इच्छा नहीं होती लेकिन उनको सत्संग मिल जाता है पहले हमने तो कभी सोचा था कि इस प्रकार के सत्संग में जाए सत्संग में पहुंचे सत्संग में सुन मिल जाता ये सत्संग कैसे प्राप्त तो अपनी इच्छा न हो लेकिन प्रारंभ तो उदय हुआ वो अपना फल देने के लिए आ गया है और दस को बता है हमारा साथ उदय हो रहा है फल दे रहा है दूसरे भगवान की भी उसके ऊपर हो गई और उसके कारण उसे सत्संग में सत्संग प्राप्त हो गया फिर जो व्यक्ति सत्संग में जीवा गया लेकर ले जाकर में खड़ा कर दिया अब होकर के सत्संग में पहुंच गए और फिर वहाँ ऐसा मन लगा कि सत्संग सत्संग होता है किताब देखते हुए सब बातों को विचार करो तो कोई ऐसा नहीं कि सब ये अपनी इच्छा से हो जाता है जैसे अपनी इच्छा होगी तो सब कर लेंगे नहीं इच्छा होगी तो नहीं होता अपने प्रारंभ जो होते हैं सब सत्संग प्राप्त होता और कभी कभी इसके विपरीत भी होता है जैसे चाहता है सत्संग प्राप्त हो लेकिन उसे तो सत्संग मिलते नहीं मिले क्या सत्संग हो तो समझ नहीं आता ये सत्संग अलग की बात नहीं कर सकता तो सत्संग की कल्पना अपने मन से बचती हो ये संतों की कल्पना अपने मन से बचती है कि संत तो ऐसे होते हैं कोई विशेष प्रकार और वैसे मिलते नहीं जैसे कल्पना किए हो तो बेचारे सत्संग संत है न सत्संग है तो मिलता भी नहीं तो इस प्रकार से दृष्टि में अंतर आ जाता है विचार में अंतर आ जाता है परिणाम स्वरूप मिलते हुए भी कौन मिले ऐसे जो हो जाता है ये स्थिति है इसमें कहते हैं कि राम कृपा कर दर्शन भयू कहते हैं भगवान की कृपा से इसलिए आपको सत्संग प्राप्त हुआ तब आपके दर्शन हुए सत्संग प्रसाद सब संशय गए और आपने एक सुंदर कथा सुनाई तो आपकी कृपा से हमारे सारे संदेह दूर हो मन को शांति मिली दुष्टान मिली बड़ी कृष्ण जंग प्रतिपानी सहित विनय अनुराग अब देखो जंग प्रतिपानी तो की वाणी में जो ये बात करती कैसे वो बोले सही से सहित सही से अनुवाद बड़ी विनम्रता के साथ भी उन्होंने गर्भ में कहा और बड़े प्रेम के साथ कहा अब देखो कथा के सुनने पर फल भी गया देश तो वैसे ही गरुड़ से पहले बड़ा अभिमान था शंकर जी ने कहा कभी उन्होंने अभिमान किया होगा इसलिए उनको मोह उत्पन्न हुआ तो जब तक अभिमान है तब तक मोह का सिद्ध रहेगा मोह अभिमान के सही जात के विकास में दोष है लेकिन फिर जब ये कालभूषण के आश्रम के परिसर में आए तब इनका माया मोह धन संशय निवृत्त होने लगे और फिर जब कालभूषण जी के पास गए तब उन्होंने मुझे नहीं कहा कि हम बहुत ज्यादा हमको संशय हो गया इसलिए हम आए थे तो उन्होंने कहा जो जिस कारण से आए थे वो तो पूरा हो गया यहाँ आते और फिर उन्होंने भगवान की कथा सुनी वहां बैठ करके जब सुनी तो उनके संशय में क्या बल्कि उनके हृदय ज्ञान उत्पन्न हो गया वास्तव में परमात्मा क्या है सत्यता में क्या है वो अवतार देते हैं देते हैं अवतार में और उनके निर्गुण आकार में प्रमुख आकार में अंतर क्या है सभी रूप में भगवान के किस प्रकार से हैं क्यों ऐसा करते हैं ये सब बात हम उनको समझ में आ रही ज्ञान उनको उत्पन्न हो गया तो अब ये कहते हैं कि जब ये हो गया तो उनके परिवर्तन हो जाएगा अब संशय दूर हो जाए और मोह दूर हो जाए और अभिमान दूर हो जाए और विनम्रता ना हो ये कैसे हो सकता है कोई कहे मुझे अभिमान तो नहीं है लेकिन मैं किसी को सुन नहीं सकता था इससे कम नहीं है जैसा बड़ा अभिमान है तुमको क्या अभिमान है सुना तो कोई मुझे कहते तो अभिमान नहीं है तो वाणी से पता लगेगा कि देखो इसको कहते हैं कि जिनको विनम्रता आ गई और बड़े प्रेम के साथ मुकुल भाषा में बोलने लगे तो पता लगा कि देखो उनका अभिमान वो गलित हुआ नष्ट हुआ समाप्त हुआ तो सुनत बिहानी वो प्रतिपानी और सही किसी में अनुराग और पुलक जात लोकन सजन मन हर से उपकार अब कहते हैं जो काभूषण जी है उनको भी गौरव की बात सुन करके प्रसन्नता हुई काभूषण को क्या प्रसन्नता हुई उनको ये लगा कि हमारी दवा काम कर गई एक मरीज आया और उसको दवा दी तो काम कर गई और अगर दवा को काम न करे तो कह उसको इतनी बढ़िया दवा दी और बेटा चली हो इसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा गरु को गरु को का मोह दूर हो गया और उनका पहले उनको उदासी इत्यादि थी संशय के कारण सरकार की स्थिति वो समझबद्ध हो गई और प्रसन्नता हो गई बड़ा उत्साह में आ गया बड़ा उत्साह गरुड़ के मन में आ गया बड़ी प्रसन्नता हो गई बड़ी विनम्रता के साथ में प्रसन्नता व्यक्त की तो ऐसा भक्त हो जाए सुनते तो बड़ी प्रसन्नता के इतना प्रसन्न किया इतना सुनाया तो उसने सुन करके उसके ऊपर देवता के कसर हुआ उसके जीवन में विचारों में परिवर्तन आया और जीवन सदगुण उसने धारण कर लिया तो अब ये को क्या हुआ पुलक मन प्रसन्नता के कारण शरीर पुलिस होने और लोचन सजग हुए और नेत्र में जला गया और मन हर्षे हुए और हृदय भी बड़ा प्रसन्न हुआ हर्षे हर्ष हुआ लेकिन सासुरी को भी प्रसन्नता हुई ये कोई अपने उद्योग के कारण नहीं थे कि हमने बड़ा प्रसन्न किया इसके कारण उनको ये लगा देखो भगवान की कथा कितनी महान है भगवान के चरित्र कितने दिव्य हैं भगवान का महिमा याद कर करके उनको इतनी प्रसन्नता हुई भगवान की भक्ति तो थी पहले और भगवान की भक्ति से भक्ति होकर के ख्याल सुना रहे थे और उनको ये भी बता देखो भगवान के चरित्र कितना सुंदर है उनकी कथा कितनी सुंदर है उनकी महिमा कितनी महान है कि वो लोगों के मन को कैसे विश्राम देती है कैसे शांति देती है कैसे उनको संतोष प्राप्त होता है जीवन के विकार कैसे दूर हो जाते हैं ये सब उनको समझ करके भगवत कृपा के ऊपर उनको समझता है तो कहते हैं श्रोता सुमत सुशील सुखी कथा रखी धारदास और कहते हैं कि जब शंकर जी बताते हैं शंकर जी कहते हैं कि हमारा विचार क्या है कि गरुड़ को कालभूषण को इतनी असमताते होगी तो वो कहते हैं कि जब श्रोता ऐसा मिले कि सुमत हो सुशील हो सुखी पवित्र हो कथा रखित हो भगवान का हरिदास भगवान का भक्त हो तो पाल ऐसा तोता पा करके जो माँ अति गोप्य मत सज्जन करेंगे प्रकार तो जो सज्जन लोग साधु लोग जो कथा सुनाने वाले हैं भगवान का चरित्र सुनाते हैं वो भगवान के गुप्त चरित्र भी प्रकट कर देते हैं समझा देते हैं बता देते हैं उसमें कुछ ताकत नहीं अब देखो श्रोता के गुण अपने हो गए श्रोता कैसा होना चाहिए प्रसन्न में शंकर जी भी बिना गए तो जलेगी तो शिक्षा की बातें हैं श्रोता के लिए श्रोता सुमत हो सुमत मैंने अच्छी बुद्धि वाला हो बुद्धि वाला हो जिस शुद्ध बुद्धि में विचार समझने के लिए प्रयास तो करे प्रश्नोत्तर तो करे लेकिन विवाद न करे झगड़ा न करे कुतर्क न करे तो तो समझ नहीं और कुतर्क न पड़ जाए बात सही की जोड़े सही की और अपनी बात ही जोड़ने की कोशिश करे और बच्चा की बात को सुने नहीं ध्यान न दे उसके ऊपर समझने की कोशिश न करे तो वो दुर्मत है इसलिए श्रोता सुमत करो जैसे कहा किस तरह बुद्धि है और फिर वो हो सुशील भी हो सुशील के माने वो हो वक्ता का आदर करे उसमें आदर भाव रखे प्रेम भाव रखे उसकी बात के ऊपर ध्यान दे उसकी सत्यता को समझने की कोशिश करे ये कहते हैं अरे बच्चा लोगों की तो अपने अपने बातें मन गलत बोलते रहते हैं अब इनकी ऐसे ही साफ होगा तो बोल ऐसी बात ऐसे करके ये सोचेगा कि श्रोता जो है हमें सत्य निष्ठ मांगे तो उसे सुशील भी होना चाहिए और शुद्ध होने मैंने मैंने पवित्र बुद्धि है उसकी पवित्रता का मैंने ये नहीं कि नहा देखे बैठा हुआ सुश्री माने ये है कि जब वो सुने और जो कुछ भी उसमें करे तो कुछ समय अपना जैसी अपनी स्थिति है अपने संदेह है तो संदेह को सुना लो अपने संदेह नहीं है तो नहीं संदेह है तो उसको खाका बना करके न कहो दूसरे के संदेह को ऐसा न कहे संदेह तो अपने आप को है और संदेह दूसरा के साथ लोग ऐसा कहते हैं कहते आप क्या कहते हो हम आपका हम कुछ नहीं कहते बस आपका निर्णय जानना चाहते हैं ये कोई श्रोताओं की पवित्र बुद्धि का लक्षण नहीं शिक्षिता के तो माने ये है कि जो समस्या अपनी है उस समस्या को रखें और श्रोता वक्ता की परीक्षा लेने में बैठे